तुम्हारे लिए उन दो ग्रहों के वाकये में बड़ी निशानी है जो एक दूसरे से टकराए थे उनमें से एक ग्रोह अल्लाह के रास्ते में लड़ रहा था और दूसरा काफिरों का ग्रोह था जो अपने आप को खुली आंखों उनसे कई गुना ज्यादा देख रहा था और अल्लाह जिसकी चाहता है अपनी मदद से तायीद करता है बेशक इस वाकये में आंखों वालों के लिए इबरत का बड़ा सामान है